रत जगों का मौसम तो तू आएगी कैसे में एक एक बड़ी डिफिनेटिव पेंटिंग थी एक एक कहानी थी एक इंतज़ार था और उसको शायर ने अपने लफ्ज़ों का एक पैराहन दिया था रत जगों का मौसम उसको एक नए एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाता है इसमें बहुत सारी वाइब्स एक साथ हैं शायर की जो उड़ान है इसमें एक तरह से जैसे नदी किनारे तोड़ के बह निकलती है तो वो फ्लड जो है वो ख्यालों का है इसके अंदर इस उफान को शायर ने जो है बहुत प्यार से इसको शब्दों में सजाया है रत जगों का मौसम है आओ हम भी एक रात पलकों पे गुजार दें रत जगों का मौसम है आओ हम भी एक रात पलकों पे गुजार दें कोई साज तुम उठाओ कोई साज मैं एक गीत गुनगुनाऊँ मैं एक गीत तुम एक गीत गुनगुनाऊँ मैं एक गीत तुम सरे राह कहीं पत्थरों पे बैठ के पत्थरों से बात हो बस इस तरह तमाम रात हो बस इस तरह तमाम रात हो रात बस एक रात छोड़ दें जहरीले नाग अपना चलन ऑल द स्कीम्स बस एक रात छोड़ दें जहरीले नाग अपना चलन बादलों में डूब जाए हंसी आरजुओं के बदन दूर तक हल्की हल्की अध खिली कलियों की महक जाम हो छलके हुए कदम हो बहके हुए किनारे तोड़ के बहने लगे मदिरा की नदी किनारे तोड़ के बहने लगे मदिरा की नदी मन की चाहत तन की हाजत डूब कर बह जाए गुनाहों की मुकम्मल एक सदी रात एक सदी की रात है रात इस युग की आखिरी हो रात और शायद अपनी मुलाकात थी दोस्त तेज से तेज तर कर दो गीतों की सदा पत्थर सभी पिघले सभी जल जाएं न मंदिर बचे कोई न गिरजा न गुरुद्वारा हवाओं में घुल मिल जाए मस्जिद का हर एक मीनारा चांदनी रातें बेल बूटे पहाड़ खुदा नुमा पत्थर जवान दिलकश बहारे सब पुकारे आने वाले कल से कोई रिश्ता न हो इस रात का ये वदी की रात है एक सदी की रात है आओ पलकों पे गुजार दें कोई साज तुम उठाओ कोई साज मैं रत जगों का मौसम है तेज से तेज तर कर दो गीतों की सदा तो जो मौजू इसमें शायर ने पकड़ा है वो एक नया आगाज़ एक नई शुरुआत clean the slate and start fresh लेकिन वो एक एक ऐसा कदम है जिसके साथ you got wipe off the entire history कुछ नई चीज़ को खोजने के लिए जब निकलता है इंसान तो तो पुरानी चीज़ें वो सब पीछे रह जाती हैं इस युग की आखिरी हो रात और शायद अपनी मुलाकात भी दोस्त तेज से तेज तर कर दो uh, गीतों की सदा पत्थर सभी पिघलें सभी जल जाएं न मंदिर बचे कोई न गिरजा न गुरुद्वारा हवाओं में घुल मिल जाए मस्जिद का हर एक मीन आरा चांदनी रातें बेल बूटे पहाड़ खुदानुमा पत्थर खुदानुमा पत्थर मतलब वो पत्थर की मूर्तियाँ जिनको हम खुदा मानते हैं जवान दिलकश बहारें सब पुकारें आने वाले कल से कोई रिश्ता न हो इस रात का ये बदी की रात है एक सदी की रात है आओ पलकों पे गुजार दें कोई सांस तुम उठाओ कोई सांस पलकों पे गुजार देने का जो पॉइंट है वो ये है कि before we get ready to try out something something new इंसान हर तरह की कोशिशें करता है अपनी अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक कर लेने के लिए उस कोशिश में we can't lose our sleep रत जगों का मौसम है इसका मतलब कि Uh, these are all uh, sleepless nights we are trying to fix what we have लेकिन उसका कोई कोई सबब बन नहीं पा रहा रत जगों का मौसम है आओ हम भी एक रात पलकों पे गुजार दें let's get together and you know discuss it out कोई साज तुम उठाओ uh, कोई साज मैं एक गीत गुनगुनाओ मैं एक गीत तुम सरे राह कहीं पत्थरों पे बैठ के पत्थरों से बात हो वेरी इनफॉर्मल बस इस तरह तमाम रात हो before we decide to move on कम से कम एक रात बैठ के आप उसमें बात करें I up something and you up something let's try to weave those threads रात बस एक रात छोड़ दें जहरीले नाग अपना चलन at least for one night let's not play the games बादलों में डूब जाए हंसी आरजुओं के बदन अपना जो सेल्फ है उससे आगे निकल के बादलों में डूब जाए हंसी आरजुओं के बदन दूर तक हल्की हल्की अध खिली कलियों की महक जाम हो छलके हुए कदम हो बहके हुए we we lose our mind मन की चाहत तन की हाजत डूब कर बह जाए गुनाहों की मकम्मल एक सदी जो हमारी इच्छाएं थी ज़रूरियात जो थी तन की हाजत डूब कर बह जाए गुनाहों की मुकम्मल एक सदी रात एक सदी की रात है रात इस युग की आखिरी हो रात और शायद अपनी मुलाकात थी दोस्त तेज से तेज तर कर दो गीतों की सदा पत्थर सभी पिघलें सभी जल जाएं वो सब रिवायतें वो सब ट्रेडिशंस जो जो बेसिस थे हमारी यूनियन का न मंदिर बचे कोई न गिरजा न गुरुद्वारा हवाओं में घुल मिल जाए मस्जिद का हर एक मीनारा चांदनी रातें बेल बूटे पहाड़ खुदा नमा पत्थर जवान दिलकश बहारें सब पुकारें आने वाले कल से कोई रिश्ता न हो इस रात का ये बदी की रात है एक सदी की रात है आओ पलकों पे गुजार दें कोई साज तुम उठाओ कोई साज मैं रत जगों का मौसम है तेज से तेज तर कर दो गीतों की सदा thank you very much for listening this is the work of Madan Mohlavi under the title Fikr ke Parinde you can get all these Urdu नज़म्स at dot Uh, this is a work work under creative common license thanks once again